त्वं दर्पणदृश्य समुच्यन्ते कामा येस्य हृदिश्रता अथमर्त्यो मृतो भवति तत्र ब्रह्म समश्नुते यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येव ग्रन्थयः अथमर्त्यो मृतो भवति एतावत्यनुशासनम् कठोपनिषद है इसका शांति पाठ हाँ, फिर एक बार ध्यान देना श्रोता और वक्ता दोनों की एक साथ रक्षा हो मानो दोनों अनिष्ट से बचें एक साथ दोनों अनिष्ट से बचें सहनऊन दोनों का एक साथ पालन हो माने दोनों को साथ साथ इष्ट की प्राप्ति हो सहवीरियम करवा भाई हम लोग एक उद्देश्य से एक साथ परिश्रम करें माने हमारे पराक्रम की वीर जी की शक्ति की एक ही दिशा हो एक ही हो चले नवधीतम हम दोनों का जो अधीत है ये अध्ययन है ये तेजस्वी हो गए तेजस्वी होवे माने अविद्या की निवृत्ति में समर्थ होवे हमारी भूल को भ्रम को अविद्या को मिटा दे और माँ भाई हम लोग परस्पर विद्वेश नहीं करें हाँ, परस्पर विद्वेश नहीं करें ये जीवन मुक्ति है और अध्ययन तेजस्वी हो ये ब्रह्म विद्या के द्वारा अविद्या की निवृत्ति है और सह वीरियम करवा वही अं हम श्रवण मनन निधिध्यासन साथ साथ कर और हमारी रक्षा हो अर्थात हृदय में शांति रहे और काम क्रोध आदि जो उपद्रव है वे हमें उपद्रुत न करें तो पांच बात हो गई काम क्रोधादि के उपद्रवों से रक्षे रक्षा शांति है और साधन का एक लक्ष्य और विद्या के द्वारा अविद्या की निवृत्ति और विद्वेश परस्पर नहीं हो गए अर्थात जीवन मुक्ति अक्षुण जीवन मुक्ति हम लोगों को प्राप्त हो गए ये शांति पाठ करके हम कठोपनिषद का स्वाध्याय करते हैं अब ये कहते हैं कि ये मर्त्य जो अपने को मरने वाला समझता है मरने वाला है नहीं परंतु मरने वाला समझता है उसको मर्त्य बोलते हैं बुद्धि में ही मर्त्यत्व है वस्तु में नहीं मैं मरूंगा ये मन की एक कल्पना है असल में वस्तु की मृत्यु नहीं है तो जो इस कल्पना से युक्त हो गया है कि मैं मरूंगा या पहले मर चुका हूँ देखो क्या ना समझी की बात है जो पहले कभी मर चुका होता वो आज होता ही नहीं वो तो मर गया मर गया मुर्दा हो गया परंतु आज है इससे ये सिद्ध है कि हम पहले कभी मरे नहीं हैं कपड़े बदले हों चोले छूटे हों लेकिन हम मरे नहीं आज हैं और आगे मरेंगे ये किस अनुभव के आधार पर अनुमान करते हो ये अनुमान भी नहीं है कि हम लोगों का शरीर मरते देख रहे हैं आत्मा को मरते नहीं देखते अजी आत्मा की बात छोड़ो आकार को टूटते देखते हैं तत्व को मरते नहीं देखते हैं मिट्टी को भी मरते नहीं देखते पानी को भी मरते नहीं देखते आग वायु और आकाश को भी मरते नहीं देखते हैं? एक शकल को टूटते देखते हैं तो जो अपने को शकल सूरत है ना मैं मान करके बैठा है वही अपने में मरने की कल्पना करता है जो अपने सहज स्वरूप को जानता है वो अपने मरने की कल्पना नहीं करता है अथ मृत्यु अमृतो भवती जो मरने की कल्पना से आक्रांत हो गया है जैसे कोई नशा हो जाए और दूसरे को कोई दूसरा समझे अपने आप को ही दूसरा समझ ले तो केवल भ्रम ही है कि मैं मरता हूँ तो इस भ्रांति से जो युक्त है कि मैं के हूँ मरने वाला हूँ वो अमृत हो जाता है अमृत हो जाता है का अर्थ हुआ कि भूल मिट जाती है तो अमृत में तीन बात है मृत्यु न होना सत होना परंतु वो सतमय है कि दूसरा है, है? हाँ। तो यहाँ तो अमृतो भवती अपने आप को ही अमृत बताया गया है इसलिए ये चेतन हुआ क्योंकि अपना आप तो चेतन होता है और आनंद अपना आपा को परम प्रेमास्पद होता है तो आनंद है रस है तो अमृत भगवती का क्या अर्थ हुआ कि तुम सचित आनंद हो और जितने आकार आरोपित हैं देश के कि मैं साढ़े तीन हाथ का हूँ ये साढ़े तीन हाथ की जो लंबाई चौड़ाई है ये देश की उपाधि से अपने में कल्पित आकार है मेरी उम्र सौ पचास वर्ष की है ये काल की उपाधि से अपने अंदर नारायण कल्पित उम्र है ये काल में आकार की कल्पना काल में महीना और संवत्सर और मनवंतर और कल्प ये सब के सब कल्पित आकार है और देश में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो ये कल्पित आकार है और वस्तु में कीड़ा और चिड़िया और मनुष्य और स्त्री और हिंदू और मुसलमान है ना ये सब कल्पित आकार है तो कल्पित आकार जो है वो तत्व को कभी स्पर्श नहीं करता तो वस्तु में कल्पित आकार और उसका नाम और देश में जो कल्पित आकार और उसका नाम और काल में जो कल्पित आकार और उसका नाम देश काल वस्तु तीनों जब चैतन्य से युक्त तीनों की समष्टि पर दृष्टि जाती है तब उसको ईश्वर बोलते हैं और जब ये देश काल वस्तु की जो संयुक्त समष्टि है ये मुझ में ही भास रही है मुझ चैतन्य में ही मुझ में न देश में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की कल्पना का संबंध है और न भूत भविष्य वर्तमान का संबंध है न यह वह मैं तू का संबंध है तब ये अखंड जो चैतन्य है अखंड जो चैतन्य है ये अमृत है अमृत शब्द का अर्थ है दुख से रहित जड़ता से रहित और मृत्यु से रहित ये तीनों अमृत शब्द का अर्थ है तो वेदांत विद्या ब्रह्म विद्या ये बात बताती है कि जो अपना अमृतत्व है ये जानने मात्र से मिल जाता है ये वेदांत विद्या की विशेषता है तमेव विद्वान अमृत भवती देखो हाँ, तो श्रुति है ना तमेव विद्वान अमृत इह भवती शब्द पर ध्यान दो तम एवं विद्वान उसको ऐसे जानो माने आत्मा के रूप में जानो तो जानने से क्या होगा इह मरने के बाद नहीं जिंदा रहते इसी धरती पर इसी शरीर में इसी वेद के मंत्र में और ये वेद का मंत्र अभी आज ही सवेरे कोई शब्द देखना था तो निरुक्त निकाला तो अपने आप ही उसमें रिक शब्द मिल गया वो ऋचा जिससे ऋचा शब्द बनता है ना वेद की ऋचा तो ऋचा शब्द का अर्थ निरुक्त में लिखा हुआ था अर्च्यते अनया इति रिक देहा है ना जिसके द्वारा भगवान की अर्चा संपन्न होती है उसको बोलते हैं रिच माने जिस रिक जिससे भगवान की स्तुति करते हैं रिजा रिक मंत्र तो निरुक्त में लिखा कि जिसके द्वारा भगवान की पूर्णता की आराधना होती है जो परिच्छिन्न है ही इसलिए कि पूर्णता की आराधना करे जो व्यक्ति है ही इसलिए कि पूर्णता में मिल जाए जो व्यक्ति है ही इसलिए कि जाति से जुदा न होए हाँ। और जो विशेष है ही इसलिए कि सामान्य से पृथक न होए हाँ। तो जो परिच्छिन्न भाषते इसलिए है कि वो अपरिच्छिन्न से जुदा नहीं है इस शरीर का नाम ही वेद है हाँ। वेद मंत्र क्या है तो ये शरीर वेद मंत्र है वो अर्चित अनया रेख ये ऋचो अक्षरे परमे व्योमन इसी मंत्र का अर्थ देख रहे थे जब तन्न वेद किमृचा करिष्य थे यदि इस जीवन में परमात्मा को नहीं जाना तो ये देह निरर्थक यदि अपने को परमात्मा जाना तो ये देह निरर्थक गया ये व्यक्तित्व निरर्थक गया यदि अपने को परमात्मा के साथ किम ऋचा करिष्यति रिक प्राप्तिर व्यर्था इत्यर्थ तो पंडित लोग इसका अर्थ करते हैं कि वेद का पढ़ना व्यर्थ हुआ यदि परमात्मा को नहीं जाना और वहाँ निरुक्त में अर्थ लिखा था कि शरीर की प्राप्ति व्यर्थ हुई यदि परमात्मा को नहीं जाना यही वेद मंत्र है इसमें आप एक मंत्र है काम एक मंत्र है नाक एक मंत्र अर्थ का प्रकाशन करता है ना अर्थ प्रकाशक स्वाद अर्थ का प्रकाशिक होने हो प्रकाशक होने के कारण कान एक मंत्र है नाक एक मंत्र है आंख एक मंत्र है जिहवा एक मंत्र है हृदय एक मंत्र है बोला बुद्धि एक मंत्र है हाथ एक मंत्र है अयम में हस्तो भगवान हाँ, ये मेरे हाथ नहीं है ईश्वर है वेद बोलता है अयम ऋग्वेद का मंत्र है अयम में हस्तो भगवान अयम में हस्तो भगवत तरा ये मेरे हाथ ईश्वर हैं और नारायण ये बड़े ईश्वर हैं अयम भगवत तरा ये बड़े ईश्वर हैं भगवान तो बड़े ईश्वर हैं तो एक एक ज्ञान है ये देखो ज्ञान हाथ एक ज्ञान आंख एक ज्ञान नाक एक ज्ञान है ना हृदय एक ज्ञान फिर एक ज्ञान ये सब क्या है कि बोले एक एक ज्ञान है तो स्थान के भेद से ज्ञान में भेद करते हैं असल में स्थान का जो भेद है वो ज्ञानात्मक ही है है ना ज्ञान में पूर्णा मात्र ही है कल्पित ही है इसलिए केवल ज्ञान ही है तो अमृतो भवती अमृतो भव तमेवम विद्वान अमृत यह भवती यदि तुम तमेतम बचने न आदि विधि शंके नहीं नहीं वो जो मंत्र आप पढ़ते हैं ना हमेशा वेदा हमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमस परस्ता तमेव विदित्वा अति मृत्युम एति मृत्युम अत्येति अमृतो भवती उसका भी अर्थ ही हुआ मृत्युम अत्येति अमृतो भवती अमृत हो जाएगा भाई हाँ कैसे तमेव विदित्वा उसको जानकर तमेव किसको वेदा हमेतम पुरुषम महानतम मंत्र के पूर्वार्ध में जिसको एतम कहा गया मंत्र के उत्तरार्ध में उसी को तम कहा गया माने जो तत्पद का अर्थ है परोक्ष वही एतत् पद का अर्थ है अपरोक्ष माने आत्मा और परमात्मा की एकता को जानकर मृत्यु का अतिक्रमण होता है मृत्यु का अतिक्रमण होता है अर्थात जड़ में मृत्यु है उसका भी अतिक्रमण होता है दुख में मृत्यु है का उसका भी अतिक्रमण होता है माने हम संपूर्ण काल परिच्छिता देश परिच्छिता वस्तु परिच्छिता अर्थात जड़ और दुख से मुक्त हो जाते हैं मृत्यु अत्यपि ये बात हुई तो अब वेदांत विचार में अमृतत्व की प्राप्ति कैसे होती है हाँ, ये अमृत क्या है तो विषय लोग कहते हैं कि जब हम विषय भोग करते हैं तब उसमें से अमृत निचोड़ लेते हैं उसी में से रस स्वाद और सुख मिलता है धर्मात्मा लोग कहते हैं कि यहाँ हम धर्म करते हैं तो अपने धर्मानुष्ठान परिश्रम से उपार्जित धन और परिश्रम हाँ, इन दोनों के द्वारा हम एक नवीन अमृत उत्पन्न करते हैं और उसको स्वर्ग में उसको स्वर्ग में पीते हैं हाँ। उपासक लोग कहते हैं कि हम भावना से एक अमृत उत्पन्न करते हैं और उसका आस्वादन करते हैं हाँ, योगी लोग कहते हैं कि एक सहज अमृत रस गगन गुफा में अजर झरे वो परमात्मा जो है कह वो रस रूप है अमृत स्वरूप है और वो तो गगन गुफा में अखंड रूप से सहज भाव से झरता ही रहता है ऐसी कोई रात आपकी नहीं बीती जिसमें वो अमृत आपके जीवन में प्रकट न हुआ हो ऐसा कोई दिन नहीं बीता जिसमें वो अमृत आपके जीवन में प्रकट न हुआ हो प्रत्येक दिन प्रत्येक रात और प्रत्येक क्षण उस अमृत से लथपथ हो करके ओतप्रोत हो करके उस अमृत से अनुस्यूत हो करके ही आपके जीवन में आता है बह रहा है वो अमृत बेरोक टोक है ना बेरोक चंद्रमा में से वही अमृत बरस रहा है सूरज में से वही अमृत बरस रहा है अरे उनकी बात छोड़ो तुम्हारी आंखों में से वही अमृत बरस रहा है है ना तुम्हारी वाणी में से वही अमृत बरस रहा है तुम्हारे रोग रोग से वही अमृत बरस रहा है और तुम्हारे मन से तुम्हारे हृदय से तुम्हारे अहमर्थ से वही जो परिपूर्ण अमृत है उसका झरना उसका झरना झरता रहता है लेकिन करें क्या है ना लेकिन करें क्या बोले कि भाई उसमें भी एक मजा है रात भाई जी का हनुमान प्रसाद जी का एक तार आया तार आया कि एक साधु आया है नाम लेके और वो आपके नाम से हमसे कोई चीज मांग रहा है तो है ना आप उत्तर दीजिए तो बड़े हैं भक्तराज हैं तो मैंने सवेरे उनको तार दिलवाया है कि मैं किसी की सेवा में बाधा क्यों डालूं सब परमेश्वर के स्वरूप हैं हैं हम उन्हें पहचानते नहीं और मैंने किसी को भेजा नहीं <laughs> जो अमृत है हम उन्हें पहचानते नहीं बोला सब परमेश्वर का स्वरूप है और हम उन्हें पहचानते नहीं तो वेदांत जो है वो वेदांत क्या बोलता है वेदांत विद्या क्या है ब्रह्म विद्या क्या है वो वेदांत ये नहीं कहता कि तुम ब्रह्म को चाहो है ना वो कहता है कि तुम ब्रह्म को चाहते हो वेदांत वेदांत सत्य का निरूपण करता है सत्य का निर्माण नहीं करता ये आप जानो ज्ञान से जो वस्तु प्राप्त होती है मकान बनाने का नाम ज्ञान नहीं है बने बनाए मकान को पहचानने का नाम ज्ञान है बोला पहचानने का नाम ज्ञान है तो तमेवम विद्वान अमृत है भगवती यदि उसको आप पहचान जाओ हाँ, तो वही क्या नाम न तत्र सूर्यो भाती न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यग्ने ये हुआ परमात्मा का व्यतिरेक मुख से प्रतिपादन और तवेव भांत अनुभाति सर्वम कस्य भाषा सर्वमिदम विभाति ये हुआ अन्वय मुख से अन्वय मुख से प्रतिपादन पहले दुनिया से अलग करके देखा और फिर दुनिया में उसको भरा पाया दुनिया से अलग करके जब उसको पहचान लिया तो देखा कि सारी दुनिया के रूप में वही सहज है सहज आनंद है सहज ज्ञान है सहज सत्ता है हम ये कहा कहते हैं कि संत तो प्रभु को चाहो हम ये कहते हैं ये भक्ति विधान नहीं है वो कृति साध्यत्वा भाव भक्ति के जो आचार्य है ना सांडिल्य आदि वो कहते हैं कि भक्ति कृति साध्य नहीं है माने हम कर्म से भक्ति नहीं करते हैं प्रयत्न से भक्ति नहीं करते हैं भक्ति बनावटी नहीं है कब भक्ति क्या है कब भक्ति ये है कि हम सुख चाहते हैं सच्ची बात है ना सुख चाहते हैं कैसा बोले जो सब जगह हो गए सब समय हो गए सब में हो गए है सब में हो गए और अनायास हो गए और जिसमें पराधीनता न हो गए और ज्ञान स्वरूप हो गए है ना ऐसा हम चाहते हैं कीड़ा भी चाहता है तो इस सुख का यदि अनुवाद करेंगे तो ये निकलेगा कि सब लोग जिसका नाम परमेश्वर है उसी को चाहते हैं चीटी भी उसी को चाहती है तो जब हम भक्ति का वर्णन करते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि तुम भक्ति करो ये कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में जो सचमुच अनादिकाल से परमेश्वर की मांग है उसको समझो उसको समझो तुम कोई दूसरी वस्तु नहीं चाहते हो सिर्फ उसी उसी को उसी उसी को चाहते हो अपनी मांग को समझो तो तुम भक्त हो भगवान के क्योंकि तुम्हारी मांग सिवाय भगवान की और कहीं पूरी ही नहीं होती और तुम्हारी मांग जिसके बारे में है ना वो सिवाय ईश्वर के दूसरी कोई चीज नहीं है चाहे तुम उसका नाम ईश्वर रखो और चाहे मत रखो है ना वो तुम चाहते बिना इसी से बोलते हैं कि बिना ईश्वर के पाए शांति नहीं मिलेगी बिना ईश्वर के मिले तृप्ति नहीं होगी बिना ईश्वर के मिले परमानंद नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि दरअसल तुम उसी को चाहते हो जैसे हम तुम्हारी केवल मांग का अनुवाद करके ही भक्ति का निरूपण करते हैं वैसे जब कह ये हमारा अभिप्राय नहीं कि तुम ब्रह्म हो जाओ तुम ब्रह्म बन जाओ अरे बिल्कुल बनना नहीं हो है ना बनोगे तो बिगड़ जाओगे है ना और होगे हो जाओगे तो बह जाओगे बोला हो जाओगे हाँ, तो फिर टूट जाएगा वो नहीं रहेगा हम ये नहीं कहते कि तुम ब्रह्म बन जाओ ये नहीं कहते कि ब्रह्म हो जाओ ये कहते हैं तुम्हारे सहज स्वरूप का अनुवाद करते हैं भाग की तरह तुम्हारी स्तुति करते हैं है ना हाँ, तमुस्तोता रहा पूर्वियम कह ये तो हम तो स्तोता हैं प्रस्तोता नहीं प्रस्तोता तो दूसरे लोग होते हैं हम प्रस्तोता प्रस्ताव करने वाले नहीं है बोला स्तोता है स्तोता है माने सिद्ध वस्तु का जय वैसा निरूपण करते हैं आप लोग ये देखो हम ये नहीं कहते ब्रह्म हो जाओ बताते हैं ब्रह्म हो तुम तुम जो अपने को देह मानते हो मनुष्य मानते हो है ना देवता मानते हो दानव मानते हो मानव मानते हो अपने को बीज वाला बीज वाला जीव मानते हो जैसे जड़ की बीजक ग्रंथि हो गई है वैसे चैतन्य की भी तुम कोई अपने को गांठ मानते हो गांठ तो ये वेद विद्या वेदांत विद्या ये बात बताते हैं तुम अमृत हो है ना क्यों बोले ज्ञान से केवल अज्ञान मिटता है ज्ञान से ज्ञान से वस्तु नहीं मिटती ज्ञान से चीज नहीं मिटती ज्ञान से चीज के बारे में जो अज्ञान होता है ज्ञान से वस्तु नहीं मिटती वस्तु के बारे में जो अज्ञान होता है वो मिटती है मिटता है अज्ञान का निवारण करना ही ज्ञान का काम है तो जब ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है और तुम अमृत हो जाते हो तम एवं विद्वान अमृत अभी बहुत ही जानते ही अमृत हो गए इसका अर्थ हुआ कि जो तुम अपने को अमृत नहीं मानते अमृत नहीं जानते अपने को सच्चिदानंद घन ब्रह्मामृत के रूप में नहीं पहचानते ये न पहचानना तो अज्ञान है, हैं? और वेदांत विद्या ब्रह्म विद्या ने पहचान करवा दी पहचान करवा दी तो अमृतत्व उत्पन्न नहीं हुआ तुम अमृत बने नहीं ज्ञान से जो चीज मिलती है वो ज्ञान के पहले भी मिली हुई थी है ना अज्ञान मिटने से जो चीज मिलती है वो अज्ञान के काल में भी मिली हुई थी तो ये जो अमृतत्व है ना हाँ, हाँ। अत्र ब्रह्म समस्नोते और यहाँ भी अत्र ब्रह्म यही हुआ यह अमृत यह भवती इसी जिंदगी में मरने के बाद नहीं मरना तो बिना हमारे सिद्ध नहीं होता जब हम मरना देखेंगे तब कहेंगे कि मरना है है ना नारायण और मरना हमारी उपस्थिति से सिद्ध होगा और स्वर्ग हमारी उपस्थिति से सिद्ध होगा और समाधि का हमारी उपस्थिति से सिद्ध होगी और भक्ति का हमारी उपस्थिति से सिद्ध होगी का ब्रह्म ज्ञान ज्ञान की वृत्ति वृत्ति ज्ञान का हमारी उपस्थिति से हमारी उपस्थिति से सिद्ध होगा जहाँ हम नहीं वहाँ की तो कल्पना ही नहीं कर सकते और जब वहाँ की कल्पना ही नहीं कर सकते तो तुम तो हो ही हो है ना और जो होता हुआ मालूम पड़ता है है ना जो होता हुआ मालूम पड़ता है आता हुआ मालूम पड़ता है जाता हुआ मालूम पड़ता है बनता हुआ मालूम पड़ता है बिगड़ता हुआ मालूम पड़ता है वो तो तुम्हारा देखा हुआ है ना तुम्हारा देखा हुआ तुमको दिखता हुआ तुमको दिखता हुआ एक सिनेमा एक मनोरंजन वो तुम्हारे आनंद का वो तुम्हारे आनंद को उद्वेलित उद्वेलित करने के लिए वो तुम्हारे सिद्ध आनंद की पहचान करवाने के लिए वो अमृत अमृत की धारा बह रही है अमृत का समुद्र मर रहा है अमृत के फूल खिल रहे हैं बोला अमृत की चांदनी और अमृत अमृत की सूरज प्रभा अमृत की वायु मरुद्वातारिताय मरुक्षर सिंधवा ये ये है तो अत्र ब्रह्म समस्नुते इसी जीवन में तुम्हें ब्रह्म का समसन प्राप्त होगा ये अश्नुते पद जो है ये भोजन के अर्थ में नहीं है व्याप्ति के अर्थ में है और भोजन के अर्थ में अश्नाति परस्मयी पदी क्रिया होती है और अश्नुते ये समस्नुते माने तुम अत्र ब्रह्म समस्नुते माने ब्रह्म में व्यापक हो जाओगे ब्रह्म में व्यापक हो जाने का क्या अर्थ सबसे बड़ा व्यापक तो ब्रह्म ही है ब्रह्म से बड़ा तो कोई व्यापक है नहीं तो ब्रह्म में व्यापक कैसे हो जाओगे है ना बोले ब्रह्म और आत्मा ये दोनों में जो पार्थक्य का भ्रम है भेद तो का भ्रम है वो निवृत्त हो जाएगा अत्र माने इसी जीवन में मरने के बाद का कोई वादा नहीं है बोला ये वादे का सौदा नहीं है ये कोई सत्ता नहीं है बोला ये कोई स्वर्ग नरक के समान नहीं है और ये कोई किसी आदमी की पराधीनता नहीं है वस्तु की पराधीनता नहीं है इंद्रिय की पराधीनता नहीं है वृत्ति की पराधीनता नहीं है किसी की पराधीनता नहीं है अरे यात्रा अत्र माने यहीं बैठे बैठे है ना इसी हाल में इसी शरीर में इसी मनोवृत्ति में इसी संकल्प में इसी क्षण में इसी स्थान में इसी रूप में है ना तुम कहो ब्रह्म समझनो थे अच्छा भाई अब हम्म, क्या नाम है हमारे